कहि बहुत भाति त्रिजटा निज भवन सिधाय राम सुभा सुमर वैदेहि उपजे बिरह बितायत बितायतिहि निसिहसि निन्दत बहु जुग युगसम भये सिरातन राती करत बिलाप मनहि मन राम बिरह जाय न की ऐसा कहकर और सीता जी को बहुत प्रकार से समझाकर फिर त्रिजटा अपने घर चली गई थी रामचंद्र जी के स्वभाव का स्मरण करके जानकी जी को अत्यंत विरह व्यथा उत्पन्न हुई वे रात्र की और चंद्रमा की बहुत प्रकार से निंदा कर रही हैं और कह रही हैं रात युग के समान बड़ी हो गई वह बीतती ही नहीं जानकी जी श्री राम जी के विरह में दुखी होकर मन ही मन भारी विलाप कर रही हैं अब जब यति भयऊ हर के बाम नयन अरुबाहू सगुन विचार धरे मन धीरा अब मिली है कृपाल रघुबीरा यहाँ अर्धन से रावण जागा निज सारथी सन झन लाएगा सठरन भूमि छड़ाय सिमोहे धिग धिग यधम मंदमति तो यहाँ आधी रात को जब विरह के मारे हृदय में दारुण दाह हो गया तब उनका बायां नेत्र और बाहु फड़कने फड़क उठे शकुन समझकर उन्होंने मन में धैर्य धारण किया कि अब कृपालु श्री रघुवीर अवश्य मिलेंगे यहाँ आधी रात को रावण मूर्छा से जगा और अपने सारथी पर रुष्ट होकर कहने लगा अरे मूर्ख तूने मुझे रणभूमि से अलग कर दिया अरे अधम अरे मंद बुद्धि तुझे धिक्कार है धिक्कार है तही पद गहे प्रभु तही पद गहे बहु विधि समझावा भोरु भय रथ चढ़ी पुनिधावा नि कपिदल खर भर भयौघने जह तह भूधर बिटप उपारे कट भट धाये भारी सारथी ने चरण पकड़कर रावण को बहुत प्रकार से समझाया सभेरा होते ही वह रथ पर चढ़कर फिर दौड़ा रावण का आना सुनकर वानरों की सेना में बड़ी खलबली मच गई वे भारी योद्धा जहाँ तहाँ से पर्वत और वृक्ष उखाड़कर क्रोध से दांत कटकटा कर दौड़े धाये जुमर कट बिकट भालु कराल कर भू धर धरा अति कोप करहि प्रहार मारत भज चले रजनी चरा विचलाय दल बलवन्त सन घेरि रावण लियो चहुद से चपेटनि मार नखन बिदारि तनु व्याकुल कियो विकट और विकराल वानर भालू हाथों में पर्वत लिए दौड़े वे अत्यंत क्रोध करके प्रहार करते हैं उनके मारने से राक्षस भाग चले बलवान वानरों ने शत्रु की सेना को विचलित करके फिर रावण को घेर लिया चारों ओर से चपेटे मारकर और नखों से शरीर विदीर्ण कर वानरों ने उसको व्याकुल कर दिया देख महामर कट प्रबल रावण के न विचार अंतरहित हुई निमिष महो कृत माया विस्तार वानरों को बड़ा ही प्रबल देखकर रावण ने विचार किया और अंदर ध्यान होकर क्षण भर में उसने माया फैलाई जब किन्नत ही पाखंड भय प्रगट जंतु प्रचंड बेताल भूत पिसाच कर घरे धनु नाराच है जोगिन गहे कर बाल एक हाथ मनुज कपाल करि सद्य सोनित पान नाचहि बहु बहुगान हे धरु मारु बोलही घोर रही पुरी धुन चहु ओर मुख बाई धावहि खान तब लगे कि सपरान है जब उसने पाखंड माया रचा तब भयंकर जीव प्रकट हो गए बेताल भूत और पिशाच हाथों में धनुष बाण लिए प्रकट हुए योगिनियाँ एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ी लिए ताज़ा खून पीकर नाचने और बहुत तरह के गीत गाने लगी वे पकड़ो बारो आदि घोर शब्द बोल रही हैं चारों ओर सब दिशाओं में यह ध्वनि भर गई वे मुख फैलाकर खाने दौड़ती हैं तब वानर भागने लगे जहाँ जाहि कट भागे तहाँ बरत देखही आगे भय बिकल बानर भालू पुन लाग बरस बालू हे जहाँ तह थक तकर केस गरजे बहुर दस शीस लक्ष्मण कपीस सबेत भय सकल वीर चेत हे हा राम हार घुनाथ कही सुबट में जहि हाथ यही विधि सकल बल तोरी तही किन्न कपट बहोरी हे वानर भाग कर जहाँ भी जाते हैं वहीं आग जलती देखते हैं वानर भालू व्याकुल हो गए फिर रावण बालू बरसाने लगा बानरों को जहाँ तहाँ थकित शिथिल कर रावण फिर गरजा लक्ष्मण जी और सुग्रीव सहित सभी वीर अचेत हो गए हा राम हा रघुनाथ पुकारते हुए श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ मलते पछताते हैं इस प्रकार सब का बल तोड़कर रावण ने फिर दूसरी माया रची प्रगट से विपुल हनुमान धाये गहे पाषाण तिन राम घेरे जाए चहुदिस बरूथ बलाये हे मारहु धरहु जन जाए कट कट ही पूछ उठाए दस दिस लंगूर बिराज तही मध्य कोसल राज है उसने बहुत से हनुमान प्रकट किए जो पत्थर लिए दौड़े उन्होंने चारों ओर दल बनाकर श्री राम जी को जा घेरा वे पूछ उठाकर कटकटाते हुए पुकारने लगे मारो पकड़ो जाले न पावे उनके लंगूर पूछ दसों दिशाओं में शोभा दे रहे हैं और उनके बीच में कौशलराज श्री रामचंद्र जी हैं